परम पिता परमात्मा का स्मरण न्यायकारी परमात्मा प्रणव ओ प्रेमी सज्जनों ईश्वर को हम न्यायकारी स्वीकारते हुए उसे हे न्यायकारीन इस संबोधन के साथ बुलाते हैं और ऐसा बोलते हुए हम उसके प्रति इसी भाव को रखते हैं ईश्वर को न्यायकारी स्वीकारना ईश्वर से जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाले लाभों में एक महत्वपूर्ण लाभ है निर्भयता की प्राप्ति ईश्वर का साक्षात्कार जब होगा उसका आनंद मिलेगा ये आगे की बात है किंतु वर्तमान में हम परमात्मा को शुद्ध रूप से न्यायकारी मानते हुए पूर्ण निर्भयता को प्राप्त हो सकते हैं हमारे कष्टों में भय एक बहुत बड़ा कष्ट है आशंका एक बहुत बड़ा कष्ट है वर्तमान में जो दुख बाधाएं उपस्थित हैं उनका अपना प्रभाव हमारे पर रहता है उतना दुख और उतनी बाधा रहती है लेकिन उसके साथ में यदि भय और आशंका जुड़ जाए न्याय का भाव मन में ना रहे तो वही दुख और बाधा बहुत बड़े दिखते हैं हमें अधिक दुख होने लगता है यदि उन दुखों को भोगते हुए हम ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार कर लें और भविष्य के लिए ऐसी अन्याय की आशंका न रखें तो बहुत कम दुख होगा हम भविष्य के लिए आशंकित रहते हैं भविष्य में मेरे पास साधन रहेंगे नहीं रहेंगे भविष्य में कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा जिनके प्रति मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूं ये भविष्य में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं वृद्धावस्था में सहयोग करेंगे या नहीं जिनको मैं ये सहयोग दे रहा हूं ये धन दे रहा हूं ये मकान दे रहा हूं उधार रूप में ये लौटाएंगे या नहीं इत्यादि भविष्य के दुखों की बाधाओं की आशंका बहुत अधिक होती है यदि हम ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार के रखें तो ये भय आशंका प्राय समाप्त हो जाएगी भविष्य में कोई धोखा दे सकता है सहयोग न करे ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा देखते हुए हमारी हानि क्या है तो हमें यही हानि दिखाई देती है कि हमने जिसको सहयोग किया वो लौटा नहीं रहा है हमें जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं कर रहा है तो उससे मेरे को दुख होगा सहयोग नहीं मिलेगा मेरे द्रव्यों की हानि होगी लेकिन यदि यहां भी हम ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार लेते हैं कि यदि सामने वाला अन्याय पूर्वक व्यवहार करे और जो चीज मैंने उसे दी है उसे न लौटाए तो भी वहां कर्मफल व्यवस्था काम करेगी उसने नहीं दिया उसको दंड मिलेगा यहां तक तो हम सोच लेते हैं प्राय लेकिन साथ में जोड़ते हैं मेरे को तो फिर हानि हो ही गई उसको दंड मिल गया लेकिन मेरा तो धन चला गया यहां भी यदि हम परमात्मा को साथ में रखते हैं यदि दूसरे ने अन्याय पूर्वक मेरा धन नहीं लौटाया है और इससे जो मेरे को हानि हुई है उसकी पूर्ति भी परमात्मा करेगा इसी तरह से जिसकी आज हम सेवा कर रहे हैं जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं भविष्य में जब मैं वृद्ध होऊंगा तब ये मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे एक आशंका रहती है क्योंकि समाज में दोनों तरह से देखा जाता है अच्छे पुत्र पुत्री के प्रति भी ये भाव आशंका के रह सकते हैं कल पता नहीं क्या हो और यदि सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा और फिर मुझे कष्ट होगा और इस आशंका में व्यक्ति दुखी होता है और भयभीत होता है उस वृद्धावस्था में जितना दुख होना था उनके सहयोग के बिना जितना भय होना था उससे कहीं अधिक भय और दुख वो अभी प्राप्त कर लेता है और उससे ग्रस्त रहता है यदि यहां भी ईश्वर को हम न्यायकारी स्वीकार कर लें हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया नई पीढ़ी को सहयोग दिया उससे जो हमारा पुण्य बना वो हमारे पास में है और उसका उचित फल परमात्मा की तरफ से अवश्य मिलेगा और ऐसे में यदि वृद्धावस्था में ये हमें सहयोग नहीं करते हैं और उससे हमें दुख होता है उनके द्वारा हमारा सहयोग किया जाना न्यायपूर्वक था परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप था लेकिन वो नहीं करते हैं और उससे जो हमें कष्ट होता है असुविधा होती है तब भी परमात्मा न्याय करेगा ठीक है परमात्मा सीधे सीधे हमें अन्न वस्त्र नहीं देगा मकान नहीं देगा इस रूप में जो बाधा हो रही है वो होगी किंतु इससे जो हमें दुख हो गया उसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा तो उन दुखद स्थितियों में भी कोई दुख की बात नहीं है अतिरिक्त दुख की बात नहीं है काल्पनिक दुख की बात नहीं है और उसकी आशंका से हम आज दुखी हों तो भी बात नहीं है और जब व्यक्ति इन भविष्य की आशंकाओं को भय को दुख को हटा देता है तो वो वर्तमान में एक बड़े भार से बोझ से मानसिक भार से तनाव दबाव से हटता है अपने को बचा लेते हैं और इसके कारण से उसका वर्तमान का जीवन अधिक सहज होता है उसका व्यवहार अन्यों के साथ में सहज होता है और ऐसा करते हुए वो वर्तमान को भी अधिक सुखी दुख से रहित रख सकता है तो परमात्मा की न्यायकारिता हमें पूर्ण निर्भयता प्रदान करती है और उसका हमारे जीवन व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है समाज में देखेंगे कि परमात्मा के प्रति जब जब उसके न्याय के प्रति आशंका पैदा होती है तब तब परमात्मा के अस्तित्व के प्रति भी आशंका पैदा होती है कुछ भी अन्यायपूर्वक संसार में दिखाई दिया तो भले ही ये सोचते हो कि इनको इनका दंड मिलेगा लेकिन अनेकों के मन में ये भी साथ में आता है कि परमात्मा इनको तत्काल दंड क्यों नहीं दे देता और परमात्मा इनको रोक ही क्यों नहीं देता परमात्मा ये अन्याय होने ही क्यों दे रहा है परमात्मा की विशेषता तो ये होनी चाहिए कि वो ये अन्याय भी ना होने दे और ऐसा सोच जिस व्यक्ति का चल पड़ता है वो ईश्वर के प्रति अपना विश्वास खोता जाता है और नास्तिक बन जाता है परमात्मा न्यायकारी है वो न्याय की रक्षा करता है ये सत्य है किंतु परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र भी रख, रखा है सबको स्वतंत्र किया है प्रत्येक मनुष्य को ये भी तो परमात्मा की व्यवस्था है और हमें स्वीकारनी होगी परमात्मा की न्यायकारिता बन ही तब सकती है जब मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र रखा जाए यदि परमात्मा ही सबको निर्धारित रूप से पुण्य कर्म करवाता रहे तो फिर तो न्यायकारिता की कोई बात ही नहीं है जैसा परमात्मा ने करवाया वैसा मनुष्यों ने किया और परमात्मा के अनुसार जिसने भी किया है परमात्मा ने जिससे जो भी करवाया है अब उसमें कुछ अनुचित तो होगा नहीं क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है अहित कभी करेगा नहीं तो उसने जो भी करवाया है वो ठीक ही है और जब सब ठीक है तो न्याय की बात ही कहां आती है न्याय तो तब उपस्थित होता है जब किसी ने ठीक किया किसी ने गलत किया किसी के साथ ठीक हुआ किसी के साथ गलत हो गया अब न्याय की बात आती है तो ईश्वर को जो न्यायकारी मानते हैं और उसका स्वरूप ये बना लेते हैं कि यदि ईश्वर न्यायकारी है तो संसार में अन्याय हो ही नहीं सकता होना ही नहीं चाहिए लेकिन चूंकि संसार में अन्याय देखा जाता है तो इसका मतलब है परमात्मा न्यायकारी नहीं है इसे हमें विपरीत समझना चाहिए दूसरी तरह से समझना चाहिए कि कर्म की स्वतंत्रता है और संसार में पाप पुण्य दोनों हैं उचित अनुचित दोनों कर्म होते हैं तभी परमात्मा न्यायकारी बनता है तभी परमात्मा न्याय करता है तो परमात्मा की न्यायकारिता के लिए कर्म की स्वतंत्रता स्वीकार करना आवश्यक है और जब हमने कर्म की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तो अन्यों के द्वारा अन्यों के प्रति किए जाने वाले अन्याय को भी हम परमात्मा की न्यायकारिता में बाधा नहीं मानेंगे और एक अलग दृष्टि हमारी विकसित होगी तो परमात्मा को हम न्यायकारी स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं न्यायकारिता वही काम करेगी कि यदि परमात्मा हमें कर्मफल देता है तो वो ये भी ध्यान रखेगा दूसरे ने हमारे साथ अन्याय किया है उसकी वो पूर्ति करेगा तो परमात्मा की न्यायकारिता में किसी भी तरह से कोई संदेह उपस्थित नहीं होना चाहिए यदि हमारी किसी मान्यता से परमात्मा की न्यायकारिता में संदेह पैदा हो रहा है तो हमारी वो मान्यता गलत है कुछ न कुछ सिद्धांत हमने गलत मान लिया है इसलिए परमात्मा अन्यायकारी प्रतीत हो रहा है परमात्मा के अन्य गुण कर्म स्वभाव हमें उसी रूप में स्वीकार करने चाहिए जिस रूप में वो परमात्मा की न्यायकारिता को बनाए रखते हो और ये एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है परमात्मा को ठीक ढंग से समझने का एक बहुत बड़ा तरीका है परमात्मा के जो गुण धर्म ऋषियों ने वेदों ने बताए हैं उनको स्थिर रखते हुए और फिर हम कोई विचार करें परमात्मा की न्यायकारिता पर अनेकों को इसलिए भी संदेह होता है कि जो हम करते हैं उसका फल उसी समय नहीं मिलता दिखता उस समय वो नहीं होता है और व्यक्ति की ये अपेक्षा होती है कि परमात्मा न्यायकारी है तो मेरे कर्मों का फल दे और शीघ्र दे यदि किसी कर्म का फल विलंब से मिलता है न्याय यदि विलंब से मिलता है तो ये न्याय का न मिलने जैसा है लोक में प्रचलन है कि न्याय का देरी से मिलना न्याय न मिलने के समान है न्यायालयों में जो न्याय में देर होती है किसी बात को पांच वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष तीस तीस चालीस चालीस वर्ष तक लग जाते हैं और निर्णय नहीं होता तो ये इतना विलंब होना एक तरह से न्याय का न होना है अपमान है निर्णय शीघ्र होना चाहिए न्याय शीघ्र होना चाहिए तो लोक की दृष्टि से ये ठीक है न्याय शीघ्र होना चाहिए जितना विलंब निर्णय में आजकल होता है वो अन्याय जैसा ही है व्यक्ति पर बहुत तनाव दबाव होता है समाज पे बहुत दुष्प्रभाव आता है तो यही बात धार्मिक व्यक्ति विचारक ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा पे भी लगाता है कि इतने लोग बहुत बुरा बुरा कर्म करते हैं उनका फल वहां नहीं मिलता उनको इतने व्यक्ति इतना अच्छा अच्छा कर्म करते हैं उनका फल उनको वहां नहीं मिलता और हम कह देते हैं कि परमात्मा कर्मों का फल आगे देगा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देगा अगले जन्म में कर्म फल का मिलना उन लोगों को स्वीकार्य नहीं मिले तो इसी जन्म में मिले और इस जन्म में भी शीघ्र मिले इसलिए जो परमात्मा के न्याय में इतना विलंब है परमात्मा न्यायकारी नहीं हो सकता और ऐसा करके वो नास्तिकता की ओर बढ़ जाता है अब यहां ये विचारने की बात है कि न्याय का मिलना अर्थात क्या एक है निर्णय का होना कि ये उचित है ये अनुचित है इसने अपराध किया और ये पीड़ित है इसने अपराध नहीं किया ये निर्णय का होना आज के न्यायालयों की दृष्टि से भी देखें तो न्यायालयों के निर्णय में विलंब है इसलिए हम कहते हैं कि न्याय में विलंब है परमात्मा के यहां तो ये विलंब नहीं है परमात्मा के यहां तो तत्काल निर्णय होता है जिस समय कर्म कर रहे होते हैं उसी समय निर्णय होता है कि उचित है अनुचित है उसमें कहा विलंब है वहां किसी गवाह की जरूरत नहीं है किसी पेशी की जरूरत नहीं है उसी समय होता है तो न्यायालयों के विलंब के निर्णय को ईश्वर के साथ में जब हम जोड़ते हैं तो फल के साथ में जोड़ते हैं निर्णय के साथ में ही जोड़ के देखें उसको निर्णय तो तत्काल करता है परमात्मा और जैसे फल में विलंब है परमात्मा के तो क्या न्यायालय किसी दंड को देता है तो उसका भोग उसी समय हो जाता है यदि न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसको 20 साल की कैद है 10 साल की कैद है तो दस साल की कैद क्या एक ही क्षण में एक ही दिन में पूरी हो जाती है उसको समय लगता है दूसरा यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक पाप कर दिए बहुत अधिक हत्याएं कर दी अब एक हत्या के लिए किसी देश में 20 वर्ष का कारागार दिया जाना है दंड निश्चित है अब यदि उसने बीस हत्याएं कर दी हैं तो उसका दंड 400 साल होगा एक हत्या का दंड 20 वर्ष और दूसरी हत्या का दंड कब भोगना प्रारंभ करेगा वो एक हत्या का दंड भोग रहा है अभी 20 वर्ष मान भी ले चलो प्रारंभ तो हो गया है दूसरी हत्या का दंड कब प्रारंभ होगा 20 वर्ष बाद में कहने लगे नहीं वो भी अभी होना चाहिए बीस हत्याएं की हैं बीसों हत्याओं का दंड अभी से मिलना चाहिए वो सारा बीस ही वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए वो संभव नहीं है उसके लिए आगे समय लेना ही होगा ये अलग बात है कि न्यायालय यदि 200, 300, 400 वर्षों का दंड दे दे तो वो भोगवा ही नहीं सकता उसकी सामर्थ्य ही नहीं है इसी प्रकार परमात्मा हमारे कर्मों का फल तो देता है और वो एक साथ देना चाहे तो भी दे नहीं सकता क्योंकि हम भोग नहीं सकते उसको उसके लिए जो समय चाहिए जो स्थितियां चाहिए वो आएंगी तभी तो वो भुगाएगा तभी तो वो भोगेंगे तो परमात्मा के यहां फल देने में देर नहीं है निर्णय तत्काल होता है न तो वहां अंधेर है न देर है ये तो हम ही इतने अधिक कर्म कर लेते हैं इस जन्म में बहुत से अच्छे और बहुत से बुरे कि उनका फल भोगने के लिए हमें बहुत लंबा जीवन चाहिए जो बुरे कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष चाहिए लाखों करोड़ों जन्म लेने होंगे उन कर्मों का फल जो अन्य शरीरों में भोगा जाता है वो इस शरीर में अभी कैसे दिया जा सकता है हम कैसे भोग सकते हैं तो परमात्मा के न्याय में देर को देखना भी परमात्मा के प्रति अविश्वास है और नास्तिकता की तरफ ले जाता है लेकिन यदि हम विचारें तो परमात्मा के न्याय में कभी देर नहीं है निर्णय उसका तत्काल है और फल जब यथा योग्य समय में मिल सकता है वो अवश्य मिल जाएगा जिस कर्म का फल शीघ्र मिलना है तो वो शीघ्र दे देगा जिस कर्म का फल मिलना शीघ्र अपेक्षित नहीं है बाद में मिलना है तो वो बाद में देगा ठीक समय पे जब जो फल जितना हमें मिलना है वो परमात्मा देता है तो जब ये विश्वास हमें हो कि हे परमात्मा आप न्यायकारीन हैं आपका न्याय बिल्कुल ठीक है तो किसी देर की या अन्याय की आशंका ही वहां नहीं रहेगी और तब जाके हम पूर्ण निर्भयता को प्राप्त हो सकेंगे नहीं तो मन में आशंका बनी रहेगी तो परमात्मा को हम न्यायकारी के रूप में अधिक से अधिक विचारते हुए अधिक से अधिक उसको शुद्ध रूप में न्यायकारी माने और उससे जो हमें निर्भयता का लाभ मिलना है तनाव रहितता मिलनी है दुखों की निवृत्ति होनी है काल्पनिक दुखों की निवृत्ति होनी है उसको हम करें परमात्मा को ठीक रूप से मानने पर ज्ञान के ठीक आने पर वो बहुत सारे दुख हमारे स्वतः हट जाते हैं जो हम अज्ञान पूर्वक स्वयं बना लेते हैं वो दुख हमारे किसी कर्म का फल नहीं होते हमारी अज्ञानता के कारण से वो दुख हम भोग रहे होते हैं स्वयं अपने बनाए हुए और उसका बहुत सरल उपाय परमात्मा को शुद्ध रूप से जानना स्वीकार करना और उस अज्ञान के हटते ही वो दुख हट जाएगा उन सब दुखों को भोगने की आवश्यकता नहीं है तो परमात्मा को और अच्छी तरह हम न्यायकारी रूप में स्वीकार कर सकें उसके शुद्ध न्यायकारी स्वरूप को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ